ज्ञानवान भवते समनस्क सदा श्रुति सतु तत्पदमापनोति यस्माद भूयो न जायते विज्ञान सारस्वती मन प्रग्रहवान नर सोध्वन तद विष्णु परम परम महीने डेढ़ महीने से आपको पर निषद आजकल काठक ब्राह्मण अथवा काठकारण्य तो मिलता नहीं है काटक संहिता में ये उपनिषद है ऐतरेयारण्यक में एक काटक ब्राह्मणम ऐतरेयारण्यक के काटक ब्राह्मण इसी से मिलता जुलता प्रसंग है महाभारत के अनुशासन पर्व में है ब्रह्मसूत्र में पाठकोपनिषद के कई मंत्रों का विचार स्वतंत्र रूप से अर्थाचराचर ग्रहणार्थ गुहाम प्रविष्टावात्मान कई कई अधिकरण काठकोपनिषद के मंत्रों के संबंध में विचार करने के लिए हैं इसलिए वेदांत दर्शन जो है इसको बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद स्वीकार करता है और आचार्यों में तो श्री शंकराचार्य भगवान को छोड़ करके और किसी का भाग से नहीं मिलता है दूसरे लोग जरा उपनिषदों पर भाष्य करने में संकोच भी करते हैं क्योंकि इसमें इतना खुला अशब्दम स्पर्शम अरूपम अरसम अगंधम अनणु अहरस्वम अदीर्घम अपूर्वम अनंतरम अवाद्यम इतना खुला इतना स्पष्ट वर्णन है उपनिषदों में कि दूसरे लोग जब इसकी व्याख्या करने लगते हैं तो उनको हाँ, अभिप्राय का अभिप्राय और लक्षणा कितने लक्षणा करनी पड़ती हैं बड़ा प्रामाणिक उपनिषद क और से लेकर ठ तक का वर्ण विन्यास जिस हृदय में होता है प्रकार से लेकर प्रकार पर्यन हृदयोपनिषद कठोपनिषद माना से अब ये कहते हैं ये परमात्मा की प्राप्ति उस पुरुष को होती है यस्तु विज्ञानवान भवती विज्ञानवान माने विवेक और बुद्धि ऐसी उज्जवल बुद्धि जो नीर क्षीर विवेक कर दे किसी के प्रति क्रूरता भी न करे किसी के प्रति पक्षपात भी न करे राग द्वेष से रहित होकर के दृश्य को दृष्ट दृष्टा को दृष्टा बिल्कुल निर्णय दे दे विवेक शब्द का अर्थ होता है जो दो मिली हुई चीजों को अलग अलग करने वाली विधि आ गया विचिर पृथक भारे जौ और गेहूं एक में मिल गए हो तो उनको अलग अलग करना ये उनका विवेक है इसी प्रकार दृश्य में जो अध्यास हो गया है ना ये अध्यास जो हो गया है दृष्टा का दृश्य में दृश्य का दृष्टा में इसका विवेक करने में जिसकी बुद्धि निपुण होती है तो यदि रागग्रस्त बुद्धि होगी तो जिससे मोहब्बत हो प्रेम हो उसी के बारे में विचार करे और यदि ग्रस्त बुद्धि हो तो जिससे शत्रुता हो उसके बारे में विचार करे वैराग्यवती जो बुद्धि होती है शुद्ध विवेक का उदय उसी में होता है इसीलिए तत्व ज्ञान के लिए ये बहुत आवश्यक है कि विवेक जागृत होने के लिए और इस नाम रूपात्मक प्रपंच में कहीं रागत द्वेष नहीं हो रहे तो अंतकरण के शोधक साधन को वैराग्य बोलते हैं विवेक बोलते हैं समाधि संपत्ति बोलते हैं इसको बहिरंग साधन बोलते हैं यही जिज्ञासु के जीवन का सारथी है यही मार्गदर्शक है और समनक कहा तो विधि से सदस्य हरते प्रज्ञान आगे आगे इंद्रिया पीछे पीछे मन मन के पीछे बुद्धि जहाँ घोड़े ही रास्ता दिखाने वाले हो गए वहाँ मनुष्य कहाँ पहुँचेगा इसका क्या पता है लेकिन सारथी के इशारे से जब चले और सारथी कैसा हो रहा है तो ही हो गए सारे थी अच्छा सारथी सारे थे गणगर्भ से अश्वा नीति सारथी जो इंद्रिय रूपी घोड़ों का ठीक संचालन करे उसको बोलते हैं सारथी अब बोले भाई इसके लिए मन बस में रहे और विवेक ठीक होवे इसके लिए क्या करना सदा सोचे हुए हमेशा पवित्र रहना पवित्रता क्या है तो दो चीज जब एक में मिल जाती हैं तब उसको मिलावटी बोलते हैं हो और जब दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो दोनों शुद्ध होते हैं ऐसे तो जब ये चेतन जड़ के साथ संबंध करता है जड़ के साथ तादाद में करता है अहम जड़ा जड़ो मम ये दृश्य वस्तु मैं हूँ और ये दृश्य वस्तु मेरा है ये जब देह में और देह के संबंधियों में मैं मेरा कर लेते हैं ना तब अन्य के गुण धर्म का अन्य में मिश्रण हो जाने के कारण अशुद्धि आ जाती है तो हमेशा पवित्र रहना सदा सूचित तो पवित्रता कैसे रहे तो मन कैसे पवित्र हो गए इसके लिए श्रुतियों में भिन्न भिन्न प्रकार बताए गए हैं एक तो आहार शुद्ध सत्य शुद्ध जो तुम्हारा भोजन है वो शुद्ध होना चाहिए सब इंद्रियों का भोजन शुद्ध होना चाहिए शुद्ध सुनो शुद्ध देखो शुद्ध छुओ शुद्ध बोलो शुद्ध स्थान पर चलो शुद्ध काम करो आहरियंते आहारा विषया भगवान शंकराचार्य ने आहार शब्द का अर्थ किया अपनी सर्व इंद्रियों को मन को भी पवित्र भोग ही दो अपवित्र भोग मत दो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा कि जन्म से अशुद्ध वस्तु जो है जैसे मांस आदि है और निमित्त से अशुद्ध जो वस्तु है है ना कोई गंदी चीज जिसमें पड़ गई जिसका बनाने वाला जिसकी जिसका बर्तन गंदा है जिसका स्थान गंदा है आश्रय दोष निमित्त दोष जाति दोष और अन्यायोपार्जित न हो बेईमानी की कमाई न हो जब भोग शुद्ध होगा देखो कोई व्यभिचार से तो संतान उत्पन्न करे और मन में ये आशा रखे कि ये ब्रह्मचारी होगा तो ये गलत है और चोरी करके बेईमानी करके धन कमाए और उसको खा के ये आशा करे कि हमारे मन में संतोष निर्लोभता निष्कामता है ना हमारे मन में आ जाए तो भोजन का भी तो, तो उल्टी बात ही उल्टी हो गई है ना चोरी करके तो लावे पैसा और ख्याल ये रखते कि जब हमारे घर में वशिष्ठ आवेंगे तब हम उनको देंगे है ना और हम तो सनत कुमार के सिवाय दूसरे को दान ही नहीं करेंगे जब सुखदेव नारद सनत कुमार आवेंगे तब दान करेंगे और पैसा कहाँ से आया बोले चोरी से तो ये आशा जैसे बिल्कुल गलत है वैसे जो वस्तु अपने हक की नहीं है उसका भोग करके और मन को पवित्र करना तो एक आहार शुद्धि चाहिए बना पवित्र होने के लिए दूसरे कर्म शुद्धि से जीतना यज्ञ न दाने न सतता अनाशके न जो कर्म करने में वासना न होए आवेश न होए गिलानी न होए सहज तो सरल भाव से जो कर्म होए है ना शास्त्रोक्त होए शास्त्र से प्रतिशुद्ध न होए वो करे और जो विहित है उसका परित्याग भी न करे कर्म शुद्ध हो फिर भाव शुद्ध हो इसमें भी ईश्वर इसमें भी ईश्वर इसमें भी ईश्वर अमुम यजो अमुम यजो यश देवे पराभक्त यथा देवे तथा गुरु सद्भाव ना हो वैसे और तीसरे चौथे हाँ, का विवेक हो गए है ना नीर क्षीर विवेक के समान हाँ, विवेक हो गए हो हाँ, दृश्य को छोड़ो जो जो दृश्य मालूम पड़ता है उसको छोड़ो पांचवी बात यह है कि जो तुम्हारी दृष्टि में शुद्ध है केवल उसी का चिंतन करो अशुद्ध का चिंतन ही मत करो सब सदा सूची ही तुम हमेशा पवित्र रहोगे मन तुम्हारा वश में रहेगा विवेक जागृत रहेगा सतु तत्पद मापनोती यस्माद भूयो न जायते उसको उस पद की प्राप्ति होती है ये पद की प्राप्ति क्या है तो पद की प्राप्ति केवल अज्ञान मात्र से ही पद अप्राप्त हो रहा है जो सर्वदेश का अधिष्ठान सर्वदेश का प्रकाशक है सर्वदेश की कल्पना जिसमें बिना हुए हो रही है भाग रही है सर्वकाल का अधिष्ठान सर्वकाल का प्रकाशक सर्वकाल की कल्पना जिसमें हुए भाग रही है सर्व नाम रूपों का अधिष्ठान वस्तुओं का अधिष्ठान सबका प्रकाशक सबकी कल्पना जिसमें बिना हुए भाग रही है वो जो अपना प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म पद है वो अप्राप्त नहीं है उसमें तो अप्राप्ति का अप्राप्ति का भ्रम है केवल भ्रम से केवल अविद्या से वो अप्राप्त हो रहा है और तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य वृत्ति से अखंडा अर्थ का साक्षात्कार होकर के अविद्या की निवृत्ति होती है और वो तो मिला ही मिला ही है तो आत्मा का जो अलाभ है अप्राप्ति है उसमें केवल अविद्या मात्र व्यवधान है और उस व्यवधान को निवृत्त करने वाली है विद्या तो जब मनुष्य शुद्ध अंतकरण होता है पवित्र समनस्क विज्ञानवान तब उसको परम पद की प्राप्ति हो जाती है परम समय नित्य जो प्राप्त है अविद्या से अप्राप्त का मालूम पड़ता है है ना उसका हुआ साक्षात्कार अविद्या की हुई निवृत्ति अब जसमान हुए न थे वहाँ से फिर आना जाना नहीं पड़ता देखो आने जाने की जो क्रिया है चाहे शारीरिक हो गए चाहे मानसिक हो गए हो मानस क्रिया हो गए चाहे शारीरिक क्रिया होवे आने जाने की क्रिया देश में होगी और स्थान विशेष एक स्थान से दूसरे स्थान में तो जाएंगे ना तो ब्रह्म तो यही है उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है है ना वहाँ और यहाँ दोनों की कल्पना का अविष्कार हाँ, यहाँ और वहाँ दोनों की कल्पना से अवच्छिन्न जो चैतन्य है स्वयं दृष्टा वो तो ब्रह्म ही है देश की देश की उसमें कोई सत्य ही नहीं है जहाँ अविद्या की निवृत्ति हुई तो न आने जाने में काल भी होता है कैसे काल होता है एक कदम दूसरा कदम तीसरा कदम तो पहले कदम की अपेक्षा दूसरा कदम पीछे होता है दूसरे कदम की अपेक्षा तीसरा कदम है ना और पीछे होता है तो पहले पीछे ये काल हुआ और यहाँ से वहाँ जाना कई देश हुआ और क्रिया तो बिना द्रव्य के होगी नहीं इसलिए स्थूल अथवा सूक्ष्म शरीर उसमें क्रिया करने के लिए द्रव्य रूप से रहेगा परंतु पर ब्रह्म परमात्मा में न तो स्थानांतर है और न तो कालांतर है न देश है न काल है न वस्तु है और न क्रिया है इसलिए शोध्वन पारम सतुत होती विद्या से अविद्या की निवृत्ति होने मात्र से ही ऐसे पद की प्राप्ति होती है जस्माद भूयो न जायते ये अस्थि भवती करोती जब कोई दृष्टा के द्वारा कोई दृश्य अस्थि रूप से प्रकाशित होता है तो वो प्रकाशित अस्थि ही परिवर्तनशील होता है और उसी में क्रिया मालूम पड़ती है परंतु दृढ़ मात्र जो वस्तु है वो जो दृढ़ मात्र है वही सर्मात्र है जो चिन्ह मात्र है वही सर्मात्र है उसमें अस्थि प्रत्यय उसमें भवती प्रत्यय उसमें करोटी प्रत्यय ये केवल भाषमान है और तत्व दृष्टि से सर्वथा नहीं है तो विज्ञान सारथिर यस्तु मन प्रग्रहवान नर सोध्वन पारमापनोती तद विष्णु परम वेदों में मंत्र आता है तद विष्णु परम पदम सदा पश्यंती सूरया विधीव तम एक बामन विष्णु है हो हाँ, और एक त्रिविक्रम विष्णु है हाँ। और एक विष्णु है और एक विष्णु का परम पद है हाँ। बामन विष्णु कौन है ऊर्धम प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यगत मध्य वामन मासीनम विश्व देवा उपास अचान वायु नीचे जाए और प्राण वायु ऊपर जाए और दोनों के बीच में जो बैठा हुआ है ना तो बामन है वो बहुत छोटा हर देश के परिवार से जिसमें परिवार का आरोप हो गया दानन छोटा सा और त्रिविक्रम कितना बड़ा बोले कितना बड़ा जगत है ना हाँ। अंत करणावच्छिन्न चैतन्य बामन और प्रपंच अवच्छिन्न चैतन्य त्रिविक्रम हाँ, चैतन्य ही है और नारायण जिसमें अवच्छेद अवच्छेदक भाव है ना जो प्रणय भी नहीं है हाँ उसका नाम है विश्व परम पद हो वो परम पद है सद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः विज्ञान सारथी जिसको विज्ञान एक एक वस्तु का एक एक विवेक करके विवेक बुद्धि जिसकी साथ कहीं पराए घर में चले गए हों तो आना पड़े एक आदमी था कोई नशा ले लिया हो उसने हकीम की तिनक हो गई तो वो ये समझने लगा कि हमारे शहर में जो नदी बहती है ना हमारा घर दूसरे सिरे पर है और हम नदी के पार आ गए हैं हम बोले भाई नाव चाहिए नाव चाहिए नाव के बिना हम कैसे अपने घर अब घर वालों ने देखा कि ये तो नदी के पार क्या अपने ही घर में है और उसको बहन हो गया कि हम नदी के पार अपने किसी मित्र के घर में है शत्रु के घर में फंस गए हैं जेल खाने में फंस गए हैं पागल आदमी बहकने लगा तो घर वालों ने समझाया अरे भाई तुम तो अपने घर में हो समझ नहीं ना वो तो जिद कर नहीं हमारे लिए नाव ले आओ हम नदी पार करके अपने घर जाएंगे हम शत्रु के घर में नहीं रहेंगे रास्ते ही रास्ता उसको सूझता था इतना बालू है और इतनी नदी है और इतना आगे रास्ता है हम अपने घर पहुंचने के लिए हमको नाव चाहिए हमको रास्ता चाहिए अब घर वाले क्या करें उसको नाव पर बैठा के उस पार ले जाएं ये तरीका है तो नहीं ये तरीका नहीं है तरीका क्या है उसका नशा उतार दिया जाए है ना नशा उतर जाए तो न उसको कहीं जाना है न बीच में नदी है न नाव की जरूरत है न वो शत्रु के घर में है वो तो अपने घर में ही है कार्य कारण कल्पना का आधार है ना सत्तया दृष्टा दृश्य की कल्पना का आधार चित्तया भोक्ता भोग की कल्पना का आधार आनंदतया नौर विवर्तमान हो रहा है स्वयं ज्यो पात्रों सच्चिदानंद एक रस अखंड आत्म वस्तु होने पर भी अन्य के रूप में भाग रहा है नारायण को है? तो रास्ते का अंत कब होगा रास्ते का अंत ये होगा जब गंतव्य का बाध हो जाएगा बोला कहीं जाना नहीं है गमन क्रिया का बाध हो जाएगा और गमन क्रिया का बाध कैसे होगा तत्व तो में आरोपित जो गंतृत्व है है ना जब उसका बाध हो जाएगा गंता गंता माने गमन करने वाला अहम दृश्य से आपन्न गमन क्रिया और गंतव्य में देश काल वस्तु का व्यवधान न रहे जब अपने स्वरूप की अखंडता का बोध होने से निष्ठा दूसरी वस्तु होती है वो हाँ। ये देश काल वस्तु की परि, जो परिस्थितियां है ना इनके परिवर्तन से निष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जहाँ देश काल वस्तु की परिस्थितियों के परिवर्तन से निष्ठा पर प्रभाव पड़ता है वो निष्ठा ही कच्ची है तो अच्छा हुआ कि एक बार किसी ने हिला दिया है ना फूटा हिल गया तो फिर से फूकने का काम और संभाल के करना चाहिए हाँ, स्थान निखनन न्याय से या बिल्कुल उसको पक्का करना चाहिए तो वैशोध्वन पारमात्मोदी रास्ते का पार उसको चल चला नहीं और रास्ते का पार मिल गया तो वो कैसा है बोले विष्णु परमम परम हाँ। दामनाकार और त्रिविक्रमाकार दोनों का जो है ना दोनों आकारों का बीज जिसमें है तो विष्णु हाँ। और विष्णु का परम पद माने जो अधिष्ठान सत्ता नारायण स्वयं प्रकाश वो परम पद है नारायण उस परम पद का साक्षात्कार होते ही गंतव्य की प्राप्ति हो जाती है अब नारायण आज लोगों को है ना जिन लोगों को इष्ट मित्रों से मिलना है ना अब हम भी तो एक इष्ट मित्र ही हैं हाँ इकट्ठे मिलिए कोई ऐसा थोड़ी है कि है ना हाँ तुमको तो बहुत घरों में घूम घूम के इष्ट मित्रों से मिलना पड़ेगा एक मित्र तो तुमको भरी सभा में मिल गया तो नारायण तो नारायण आओ अब डेढ़ महीना पूरा हो गया और हमारे स्वामी जी महाराज पधार गए स्वामी श्री चेतनानंद जी महाराज श्री रामदाचार्य बहुत श्रेष्ठ सत्पुरुष यहाँ आए गए अब आप लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया बात सुनने को